स्मरण प्रणव ध्वनि ओ प्रेमी सज्जनों आर्याभिविनय के द्वितीय प्रकाश का इक्यावनवा मंत्र आज हम आर्यों के सामने विचार के लिए विद्यमान है ये मंत्र यजुर्वेद के दूसरे अध्याय का दसवां मंत्र है इसमें परमात्मा से प्रार्थना की गई है और प्रार्थना के साथ परमात्मा की स्तुति भी की गई है उसको विशेषण के साथ संबोधित भी किया है परमात्मा को यहां इंद्र कहते हुए पुकारा हे इंद्र हे परम ऐश्वर्यवान ईश्वर परमात्मा ऐश्वर्य वाला है इसीलिए वो ईश्वर कहलाता है और वो इंद्र भी इसी कारण से है उसको संबोधित करते हुए कहा मई इदम इंद्रियम दधातु मुझ में एक आर्य बोल रहा है मुझ में इदम इंद्रियम इस इंद्रिय को दधातु धारण कराओ प्राप्त करो इंद्रिय से यहां पर तात्पर्य है इंद्र का जो साधन है इंद्र के लिए जो हितकर है वह है इंद्र शब्द परमात्मा के लिए प्रयुक्त किया जाता है उसी प्रकार इंद्र शब्द आत्मा के लिए भी प्रयुक्त किया जाता है हमें इंद्रियों की प्राप्ति कराओ श्रेष्ठ उत्तम बलवान इंद्रियों की प्राप्ति कराओ इंद्र आत्मा और उसका साधन जो भी उसके करण हैं उपकरण हैं बाह्य इंद्रियां और आभ्यंतर इंद्रियां अंतकरण वे सब इंद्रिय कहलाएंगे तो इंद्र ऐश्वर्यवान परमात्मा से प्रार्थना की जा रही है कि मुझे श्रेष्ठ उत्तम इंद्रियों की प्राप्ति कराओ परमात्मा इन इंद्रियों को प्रदान करता है उत्तम इंद्रियों को ही प्राप्त कर, कराता है कर्म के अनुसार उसमें भिन्नता होती है और एक आर्य जब ये प्रार्थना कर रहा है कि मुझे उत्तम इंद्रियां प्राप्त कराओ तो वो पुरुषार्थ पूर्वक ही प्रार्थना कर रहा है और वो अपने कर्माशय के अनुसार ही प्रार्थना करेगा कि मेरा जो कर्माशय है मैंने जो श्रेष्ठ कर्म किए हैं उसके फल के रूप में मैं श्रेष्ठ इंद्रियों को चाहता हूं क्योंकि ये आर्य है इसलिए इंद्रियों को क्यों चाह रहा है श्रेष्ठ इंद्रियों को क्यों चाह रहा है क्योंकि उसे पता है इनका उपयोग करके मैं अपनी आत्मा की उन्नति कर सकता हूं आत्मा का हित कर सकता हूं मुक्ति की प्राप्ति कर सकता हूं एक आर्य में जो कि शुद्ध ज्ञान से युक्त है और एक अनार्य में जो कि शुद्ध ज्ञान से युक्त नहीं है उसमें एक भिन्नता है एक अनार्य वो है जो सांसारिक सुखों को ही अपना लक्ष्य मानता है वो भी इंद्रियों की कामना करता है इंद्रियों की स्वस्थता बलवत्ता वो भी चाहता है लेकिन उसका वो चाहना उसके लिए हानिकारक हो जाता है हानिकारक हो सकता है और आर्य जब इन इंद्रियों को चाहता है तो श्रेष्ठ कर्मों के लिए चाहता है उसका लक्ष्य अलग है कुछ व्यक्ति इन इंद्रियों के माध्यम से किए जाने वाले विभिन्न अधर्मों को देख करके गलत कार्यों को देख करके इन इंद्रियों से दुखी हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं जो धार्मिक साधक व्यक्ति संयम के लिए प्रयत्नशील है उसे यह पता लग गया है कि इंद्रियों का आकर्षण बड़ा बलवान है और वो मुझे विषयों की तरफ खींचता है मेरे संस्कार भी उद्भुत होते हैं और वेग बन जाता है और विषयों का आकर्षण मेरे नियंत्रण से बाहर चला जाता है और मैं धर्म पूर्वक या अधर्म पूर्वक उधर उस ओर चला जाता हूं जब इस समस्या को साधक या धार्मिक व्यक्ति देखता है तो उसे दोष दिखाई देने लगता है इंद्रियों में और वो प्रयत्न करते करते फिर भी नियंत्रण नहीं कर पाता तो वो ये तक इच्छा करने लगता है कि ये इंद्रियां न रहें ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं ये इंद्रियां न होती तो अच्छा रहता एक पुराने संत के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने अपनी दोनों आंखें फोड़ ली थी क्यों फोड़ ली थी कि उन्हें लगता था कि ये नेत्र हैं तो भाई ये बाहर के विषय दिखाई देते हैं आकर्षित करते हैं मन में वृत्तियां उठती हैं मैं परमात्मा का भजन करना चाहता हूं और ये बाधक बन जाती है अर्थात इंद्रियों को व्यक्ति बाधक के रूप में भी देख सकता है धार्मिक व्यक्ति साधक प्रवृत्ति प्रकृति का व्यक्ति जो अधार्मिक और अनार्य हैं वे तो इंद्रियों को चाहते हैं क्योंकि उनके उद्देश्यों की पूर्ति इन इंद्रियों से होती है विषय भोगों की प्राप्ति होती है लेकिन जिसने इतना समझ लिया है कि विषय भोग की तरफ जाना हानिकारक है पर एक अज्ञान अंदर रह गया एक समझ अंदर नहीं आ पाई और वो इंद्रियों को ही हानिकारक समझने लग गया इंद्रियों को प्राप्य वस्तु नहीं समझने लगा इसीलिए अनेक व्यक्ति कभी अपने नेत्रों को बंद भी कर लेते हैं पट्टी भी लगा लेते हैं प्रारंभिक साधकों के लिए एक सीमा तक ठीक है कि हम अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखें विभिन्न उपायों से लेकिन यदि ऐसा करने में भी साधक के मन में ये भाव है कि ये इंद्रियां हानिकारक है तो ये एक अविद्या है ये गलत दृष्टि है इंद्रियां कभी भी हानिकारक नहीं है इंद्रियां हानिकारक कब बनती हैं ये आर्य जानता है कि मन में जब अज्ञान होगा अंदर जब नियंत्रण नहीं होगा तब ये इंद्रियां हानिकारक होती हैं नहीं तो परमात्मा ने ये इंद्रियां भले ही बहिर्मुखी बनाई हैं लेकिन ये हानि के लिए नहीं बनाई है ये आत्मा के हित के लिए बनाई है ये आत्मा की के साधन है साधन है तो आत्मा का हित करती है इसीलिए परमात्मा ने बना के दी है तो आर्य इसलिए ही प्रार्थना करता है हे इंद्र मई इदम इंद्रियम दधातु मेरे में ये इंद्रिय दो धारण कराओ रखो आर्य कभी भी नहीं सोचेगा कि मेरी ये इंद्रियां नष्ट हो जाएं तो अच्छा रहे क्योंकि उसे पता है कि इनका नियंत्रण कहां होगा नियंत्रण तो अंदर होगा आगे फिर कहा असमान राय मघवान सचनताम हमारे लिए हम हमें हम सबको मघवान परमात्मा को संबोधन में लिया महर्षि ने कि हे धनवान हे परमात्मा मग शब्द भी धन नाम में पढ़ा गया है विभिन्न प्रकार के धन होते हैं समस्त ऐश्वर्य धन के रूप में कहे जा सकते हैं धन केवल रुपए पैसे या मुद्रा ही नहीं होता मकान खेत अन्य वस्तुएं पशु आदि भी धन कहलाते हैं सभी चीजें ये धन कहलाती हैं तो परमात्मा मघवान है धनवान है समस्त ऐश्वर्य उसके पास में है और वो इन ऐश्वर्यों को हमें देता है दे सकता है और ये जो मघ शब्द है धन वाची ये दान कर्म की धातु से बनाए मघ तेर दान कर्मण मघ का मतलब धन है लेकिन कौन सा धन तो वो धन जो दान के निमित्त होता है देने के लिए होता है परमात्मा के पास में जो भी धन है वो देने के लिए ही है परमात्मा के पास उसका सारा ऐश्वर्य ये सारी प्रकृति समस्त धन ये जो भौतिक धन है वो उसके अपने लिए नहीं है उसका अपने लिए कोई प्रयोजन नहीं है ये सारा का सारा देने के लिए ही है तो हे मघवान हे देने वाले धन से युक्त परमात्मा असमान हम सबको राय सचनताम राय दीजिए सब ओर से प्राप्त कराइए राय विविध अनेक प्रकार के धन रई शब्द है वो भी धन का है धन के नाम में पढ़ा गया है तो बहुत सारा धन हमें प्राप्त कराइए और ये जो रई धन नाम में पढ़ा गया है वो भी रा दाने इस शब्द से धातु से बना है रई दाने रई से रा और मूल शब्द यहां पर दान अर्थ के अंदर है दा दाने तो जिस धन की कामना की जा रही है वो भी कैसा जो कि देने के धर्म वाला हो देने के लिए हम अपना भी प्रयोग करेंगे जितना आवश्यक है लेकिन हम धन की प्राप्ति इसलिए चाहते हैं कि हम इससे दूसरों का भी उपयोग दूसरों का भी लाभ कर सके तो देने वाले धन से युक्त परमात्मा से देने वाले धन की कामना की जा रही है ये आर्य की कामना है वेदों में धन ऐश्वर्य की बहुत कामना है एक तरफ अध्यात्म में हम सोचते हैं कहते हैं कि धन आदि अधिक नहीं मांगना चाहिए अधिक नहीं लेना चाहिए परिग्रह न हो अपरिग्रह हो जितना आवश्यक है उतना ही लेना बाकी न लेना तो मोटे तौर पे इन दोनों बातों में विरोध प्रतीत होता है लेकिन वेद जिस धन की कामना करने को कहता है हमें बहुत धन प्राप्त करना चाहिए वो धन देने के गुण वाला है जो दूसरों के लिए लगना है वो अच्छे कार्यों में लगना है ऐसे धन की कामना हमें करनी चाहिए आर्यों को करनी चाहिए और जब धन की कामना की जाती है तो मन में ये आशंका या भय भी नहीं होना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे या कहीं मैं अध्यात्म से दूर तो नहीं जा रहा हूं आवश्यकता है हम ले सकते हैं और दूसरे अच्छे कार्यों के लिए मांग रहे हैं ले रहे हैं तो भी हम मांग सकते हैं उससे अध्यात्म के प्रति कोई हानि नहीं होती है यदि हम धन अपने भोग के लिए अपने भौतिक सुखों के लिए चाह रहे हो मुक्ति का लक्ष्य छोड़ दिया हो तो वो हमारे लिए लज्जा की बात निंदा की बात हो सकती है होनी चाहिए नहीं तो हमें धन संपत्ति की कामना करनी चाहिए ये सब गृहस्थियों को भी करनी चाहिए पुरुषार्थ पूर्वक उन्होंने जो कार्य किए हैं उसके बदले में उन्हें धन की कामना होनी चाहिए तो पहली पंक्ति में एक तो इंद्रिय की कामना की गई और दूसरे धन ऐश्वर्य की कामना की गई अगली पंक्ति में सब कामनाओं को एक साथ ले लिया गया एक तरफ हम अपनी भिन्न भिन्न कामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं हमें धन मिले हमें इंद्रिय मिले हमें ज्ञान मिले हमें बल मिले इत्यादि ये जो विभिन्न वस्तुएं हम चाहते हैं ये इच्छा पूर्वक ही होती है इच्छाएं हमारी होती हैं उन इच्छाओं को अलग अलग इच्छाओं को हम इस रूप में प्रकट करते हैं लेकिन अगली पंक्ति में इच्छाओं के इच्छा मात्र के पूर्ण होने की कामना की गई है तो इच्छा के पूर्ण होने की कामना का मतलब है सभी वस्तुएं जिनको हम चाहते हैं वे भी मिल जाए तभी इच्छा की पूर्ति होगी तो पंक्ति में कहा अस्माकम संतु आशीष हमारी आशीष इच्छाएं आशाएं कामनाएं संतु होवे पूर्ण होवे और इसके लिए एक शब्द और दिया आगे सत्याह सत्याह संतु सत्य होवे सिद्ध होवे पूर्ण होवे इसको दूसरे ढंग से भी लेते हैं कि हमारी जो भी कामनाएं हैं वे सत्य होवे उचित होवे अनुचित कामनाएं हम ना करें ये जो कामना की जा रही है ये आर्य के द्वारा की जा रही है जो धर्म और न्याय में स्थित है वो व्यक्ति ऐसी प्रार्थना कर सकता है वेद में जो बहुत सारी प्रार्थनाएं लिखी रहती हैं और उसको देख करके हर व्यक्ति ये प्रार्थना करने लगे उन्होंने प्रार्थनाओं को करने लगे ये सबके लिए योग्य नहीं है कोई दुष्ट व्यक्ति कहे मेरी सारी कामनाएं पूर्ण हो कोई दुष्ट व्यक्ति कहे कि वेद मनुष्य मात्र के लिए है तो ये पंक्ति भी मेरे लिए है मेरे लिए भी है और मैं ये कामना करूंगा विभिन्न दुष्ट कामनाएं स्वार्थ युक्त कामनाएं अन्यों को हानि पहुंचाने वाली कामनाएं और वो इस पंक्ति का प्रयोग करे परमात्मा ने निर्देश किया है कि हमारी कामनाएं पूर्ण हो तो ये उन पर लागू नहीं होती है ये धार्मिकों सज्जनों पर ही लागू होती है पुरुषार्थियों पर ही लागू होती है तो अस्माकम संतु आशीष और फिर उसको दोहराया गया न संतु आशीष न हमारी आशीष संतु आशाएं पूर्ण हो इच्छाएं पूर्ण हो सत्य हो दो बार ये कथन किया गया ये जो दो बार कथन है ये ईश्वर के प्रति अत्यंत प्रेम के लिए और इस कामना की पूर्ति की तीव्रता के लिए शीघ्रता के लिए कि ये हमारी कामनाएं शीघ्र पूरी में प्रबलता से पूर्ण हो अच्छी प्रकार से पूर्ण हो इस त्वरा के लिए यहां पर यह कहा गया है महर्षि दयानंद ने इस मंत्र का भाष्य करते हुए भावार्थ में विशेषण किया है वो कहते हैं ये पुरुषार्थी न ईश्वरोपासका जो पुरुषार्थी हैं और ईश्वर के उपासक हैं दो विशेषण लगाए ये पुरुषार्थी न ईश्वरोपासका त एव शोभनम मन श्रेष्ठानी उत्तमानी धनानी सत्या इच्छाश्च प्राप्तवंती नेतरे जो पुरुषार्थी हैं और ईश्वर के उपासक हैं वे ही शोभनम मन बहुत सुशोभित मन को प्राप्त कर सकते हैं श्रेष्ठ मन को सुंदर मन को प्राप्त कर सकते हैं मन इंद्रिय के रूप में यहां पर है इंद्रिय का प्रतीक है और एक मुख्य इंद्रिय है वो ही व्यक्ति सुशोभित मन को प्राप्त कर सकता है जो पुरुषार्थी हो और परमात्मा का उपासक हो दोनों में से एक भी चीज नहीं होगी तो शोभित मन उसके पास में नहीं होगा और इस समाज में देखा जाता है एक बड़ा वर्ग है जो बहुत पुरुषार्थ करता है लेकिन ईश्वरोपासक नहीं है ईश्वर को स्वीकारता नहीं है ईश्वर की आज्ञाओं पर ध्यान नहीं देता ईश्वर की आज्ञाओं को पालन नहीं करता जीवन का लक्ष्य ईश्वर की आज्ञा के अनुरूप नहीं बनाता है तो पुरुषार्थी वर्ग एक बहुत बड़ा है वो उस शोभित मन को नहीं प्राप्त कर सकते मन जितना अच्छा बन सकता है वो उनके पास में नहीं हो सकता और दूसरा एक बड़ा वर्ग है जो ईश्वर को स्वीकारता है ईश्वर की उपासना करता है ईश्वर की अनेक आज्ञाओं का पालन भी करता है लेकिन पुरुषार्थ नहीं करता है पुरुषार्थ भी ईश्वर की आज्ञा है लेकिन वो पुरुषार्थ नहीं करता है और वो अपनी धार्मिकता को ईश्वर की उपासना तक ईश्वर के स्मरण में ईश्वर के नाम को बोलने में ईश्वर के गुणगान करने में इसी तक केंद्रित रखता है विभिन्न क्रियाकलापों को करता है जिनसे उसकी आस्तिकता सिद्ध होती है ईश्वर को मानना बौद्धिक रूप से वो ही मात्र सिद्ध होता है ऐसे भी बहुत व्यक्ति होते हैं वो भी शोभित मन को प्राप्त नहीं हो सकते केवल एकांत में ध्यान साधना करने वाले केवल स्वाध्याय करने वाले ये भी शोभित मन को पूर्णतया प्राप्त नहीं कर सकते ध्यान करना और स्वाध्याय करना अध्ययन करना ये भी एक पुरुषार्थ है लेकिन ये एकांगी पुरुषार्थ है उसके अतिरिक्त जो पुरुषार्थ होना चाहिए व्यवहार काल का वो भी आवश्यक है सभी चीजें आवश्यक है तो जो व्यक्ति पुरुषार्थी हो और ईश्वरोपासक हो वो ही शुद्ध शोभित मन को प्राप्त कर सकता है और श्रेष्ठानी उत्तमानी धनानी श्रेष्ठ उत्तम धन को भी वही प्राप्त कर सकता है आगे कहा सत्या इच्छाश्च और सत्य श्रेष्ठ इच्छाओं को भी वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है इच्छाएं हर मनुष्य में होती हैं लेकिन केवल पुरुषार्थी व्यक्ति की इच्छाएं विकृत हो जाएंगी और केवल ईश्वरोपासक की जो कि केवल उपासना स्तुति में ही लगा रहता है उसकी भी इच्छाएं सत्य नहीं होंगी विकृत हो जाएंगी और पूर्ण सिद्ध भी नहीं होंगी तो सत्या इच्छाश्च प्राप्तवंती न इतरे तो ये मंत्र आर्यों के लिए है आर्यों पर लागू होता है आर्य वो है जो पुरुषार्थ भी करते हैं और ईश्वरोपासना भी करते हैं ये जो मंत्र है यहां जितना दिया गया है ये यजुर्वेद में दूसरे अध्याय का दसवें मंत्र का एक भाग है ये पूरा मंत्र नहीं है उसकी ये दो पंक्तियां हैं उसके आगे भी एक पंक्ति है वो यहां पर नहीं ली गई है तो महर्षि के इन वचनों पे हम ध्यान देंगे जो महर्षि ने अंत में लिखे हैं कि हे भगवान हम लोगों की इच्छा आप शीघ्र ही सत्य कीजिए सिद्ध कीजिए जिससे हमारी न्याय युक्त इच्छा के सिद्ध होने से यहां भी महर्षि ने न्याय युक्त इच्छा का प्रयोग किया है जो पक्षपात से रहित है धर्म पूर्वक है उचित है ऐसी न्याय युक्त इच्छा के सिद्ध होने से हम लोग परमानंद में सदा रहे हमारी जो अन्याय युक्त इच्छाएं हैं वो कभी पूर्ण ना हो और उनसे हम परमानंद में भी नहीं रह सकते हमें दुख कष्ट होगा तो हमें इन श्रेष्ठ चीजों की कामना करनी चाहिए इनको हानि के रूप में नहीं देखना चाहिए इंद्रियों को और धन को भी बहुत से व्यक्ति धन अपने पास इसलिए नहीं रखते कि धन है ये हानिकारक है ये धन पतन का कारण है इसलिए धन को ही छोड़ देंगे जैसे इंद्रियों को छोड़ देते हैं ऐसे धन को भी छोड़ देते हैं जिनका अपने पर नियंत्रण नहीं है वो धन को छोड़ें ठीक है वहां तक लेकिन जिनका अपने पर नियंत्रण है धन का उचित उपयोग करना जानते हैं तो उनके पास धन कितना भी रहे वो धन उनकी हानि का कारक नहीं बन सकता वो उनके लिए हानि नहीं कर सकता वो उनका उपयोग ठीक ढंग से कर सकता है इसलिए इन चीजों की कामना हमें करनी चाहिए आर्यों को ये कामना करनी चाहिए और अपनी इच्छाओं को भी हमें शुद्ध पवित्र बनाना है और इच्छाएं हमारी शीघ्र पूरी हो जाए ये भी हमें कामना करनी चाहिए किन्हीं को कोई पूछना हो तो पूछे मन में भावना के साथ शांति पाठ ओ